और अल्लाह सलामती के घर जन्नत की तरफ बुलाता है और वो जिसको चाहता है हिदायत अता फरमाता है सीधे रास्ते की तरफ